ये नज्म है इसका उन्वान है मकान आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है आज की रात ना फुटपाथ पर नींद आएगी सब उठो मैं भी उठूं तुम भी उठो तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी ये जमी तब भी निगल लेने पर आमादा थी पांव जब टूटते शाखों से उतारे हमने इन मकीनों को खबर है न मकानों को खबर उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद बामोदर और जरा और संवारे हमने आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया वो रहे खाक तो हम से तामीर लिए अपनी नस नस में लिए मेहनत पे हम की थकन बंद आँखों में इसी कसर की तस्वीर लिए दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक रात आंखों में खटकती है सिया तीर लिए आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी सब उठो मैं भी उठूं तुम भी उठो तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी